और तुम उसको छोड़कर जिन जिन को पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना अपनी मदद करते हैं